मुच्यन्ते कामागेस्य हृदिश्रिताः अथ मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते यदा सर्वे हृदय हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मर्त्यो मृतो भवति एतावत् अनुशासनम् यदा सर्वे प्रमुच्यंते कामा ये हृदयता इस मनुष्य के हृदय में जो कामनाएं रहती हैं वे जब सब मुक्त हो जाते हैं अर्थात सब छोड़ दी जाते हैं माने इन कामनाओं का जो विषय है तो मिथ्या है और मैं कामी नहीं हूं अनंत ब्रह्म साक्षी अधिष्ठान तो मुझमें तो कामी पने का अभिमान नहीं है और जिन विषयों की कामना की जा रही है उनका कोई तत्व महत्व कोई अस्तित्व ही नहीं है तो जब कामी भी मिथ्या और काम्यमान विषय भी मिथ्या तो ये दोनों की लड़ी को जोड़ने वाली दोनों की कड़ी जोड़ने वाली ये जो कामना है ये क्या है ये तो केवल खुजना है ये तो कोई केवल कल्पना है क्योंकि कामना का संचालन करने वाला जो है वो मिथ्या जादूगर और जिसकी ओर कामना बिचारी दौड़ रही है वो मिथ्या मृग कृष्णा का जल तो दोनों के बीच में किस करके कामना तो स्वयं मिथ्या हो गए जो भाग जो सर्प भाग रहा है वो तो अपने अधिष्ठान रज्जु में नहीं है और जो उसको चाहने वाला स्वप्न पुरुष परिच्छिन्न अहम भाग रहा है सो साक्षी में नहीं है तो सर्पस्थानीय विषय नहीं है और स्वप्न पुरुष स्थानीय काम ही नहीं है तो कामना का न आश्रय है न विषय है मन कामना से जो चाह जाता है तो भी नहीं है और जो कामना को करने वाला है तो भी नहीं है सब कामना माने क्या होता है सुखदी भगवती ने इसका बड़ा सुंदर विश्लेषण किया है तो विश्लेषण माने जब दो चीज तीन चीज एक में मिली हुई मालूम पड़ती हो ना तो उनको अलग अलग अलग कर देना विश्लेषण श्लेष श्लेष माने आलिंगन मिलना और विश्लेष माने दोनों को छुड़ा देना अलग कर देना तो श्रुति भगवती कहती है कि यदि तुमको ये मालूम हो गया कि मैं कौन हूँ तब किमिच्छन कस्य काम आयो शरीर मनुसंजरे श्रीमद भागवत में भी ये श्लोक है विष्णु पुराण में विष्णु पुराण में भी है और पंचदशी में भी है और वेद का मंत्र तो है ही है थोड़ा थोड़ा पाठ वेद किया किमिच्छन कस्य काम आया देहम पुष्णाति लंपटा श्रीमद भागवत में ऐसे किमिच्छन कस्य काम आया शरीर मनुसंजरे तो <clears throat> किमिच्छन कस्य काम आया देखो इसमें क्या है किम विषय जातम इच्छन कस्य भोक्तु काम आया दोनों पर आक्षेप किया न तो विषय में कोई सब महत्व है और न तो भोक्ता में सब महत्व है भोक्ता सुना तो एक खुरखुराहट है दिल की और विषय बना जो है वो इंद्रियों का चमत्कार है इंद्रियों का जादू है वस्तु एक है अखंड वस्तु इंद्रियों के चमत्कार से पांच प्रकार की भाप रही है और अखंड वस्तु ही अंतकरण के चमत्कार से परिच्छिन्न भोगता भाप रहा है अंतकरण के चमत्कार से आत्मा में परिच्छिन्नत्व भोक्तृत्व और इंद्रियों के चमत्कार से विषयों में पंचविधत्व सबका एक ही है ये मशीन के खेल हैं ये जो विषयों का पांच प्रकार से भाषना है ये मशीनी खेल है इंद्रियों का और ये जो अपने में भोक्तापन का ख्याल है कहिए जैसे सपने में सपने में भी तो स्त्री पुरुष का समागम होता है सपने में भी तो चाट और खीर का भोजन होता है सपने में भी तो साम्राज्य होता है तो वहां जैसे भोक्ता तुच्छ है तात्कालिक है इसी प्रकार ये व्यवहार में भी भोक्ता जागृत में भी जो भोक्ता है वो तुच्छ है तात्कालिक है और विषय भी तुच्छ है तात्कालिक है इनमें अपनी सत्ता से ही हम इनको सत्ता दे रहे हैं तो इसीलिए शास्त्र में काम की चर्चा बड़े ढंग से की है आपको तत्व को समझने के लिए काम की चर्चा और व्यवहार के लिए काम की चर्चा उसका दो विभाग कर दो एक तो जब आप तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तत्व का असली स्वरूप क्या है अगर ये जानना चाहते हो तो कामना के चश्मे से जो हम वस्तु को देखते हैं उसमें भले कामना बनी रहे और कामना से दिखने वाली वस्तु बनी रहे लेकिन वस्तु में कितना कितनी असलियत है और कितना काम के चश्मे से उसमें आ गया है ये विवेक तो करना पड़ेगा चीज दिख रही है तो वो चीज असली कितनी है और उस पर हमारे चश्मे का रंग कितना है अगर इसका विवेक नहीं करोगे तो फंस जाओगे संसार में जितना सौंदर्य मालूम पड़ता है वो वस्तु का रंग नहीं है चश्मे का रंग है, है? और जो अपने को मजा आता है वो वस्तु का मजा नहीं है इंद्रियों का मजा नहीं है वासना का मजा आएगा मजा जो आता है वो वासना से वासना ना हो तो मजा नहीं आ जाएगा <clears throat> और सौंदर्य जो भागता है सौंदर्य जो भागता है वो इंद्रियों वासना से युक्त इंद्रियों के द्वारा विषय में रंग डाला गया है तो श्रुति ने निंदा की थोड़ी देखो कामान यमयते मनम स्वकाम काम जायते तत्र तत्र पर्याप्त से कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयती काम बोले जो संसार के विषय में जो सौंदर्य भागता है मन्यमाना उसको सच्चा मानकर और अपने को भोग में मजा आता है ऐसी जो स्वप्नवत प्रतीति है उसको सच्चा मानकर जो विषयों को चाहने लगता है कामान यह काम ऐसे मन्य माना स काम फिर जायते तत्र तत्र उसको अपनी कामना के अनुसार वहाँ वहाँ जाना पड़ेगा माने वो अपने मूल स्रोत ब्रह्मता से विच्छिन्न हो जाएगा कहाँ कहाँ जाना माने कहाँ कहाँ जाना माने अपने को परिच्छिन्न मानना और अपने को परिच्छिन्न मानना माने अपने ब्रह्म स्वरूप सत्य से वो वंचित हो जाएगा और पर्याप्त काम कृतास मनस्तु हाँ, जिसने सदगुरुओं की शरण में रहकर कृपात्मा अपने मन को ठीक ठीक अपने ढंग का बना लिया और सारी कामनाएं जिसको प्राप्त हैं कि यही वो सर्वे प्रबिलियंती कामा इस जीवन में ही उसकी सारी कामना शांत हो जाते हैं अच्छा दर्शन की दृष्टि से एक प्रश्न आप उठाओ कि आप क्या चाहते हैं क्यों चाहते हैं ये मत बताइए और जो चाहता है वो क्या है आप क्या चाहते हैं और कैसे चाहते हैं और कब चाहते हैं और कहा चाहते हैं इस विचार को छोड़ दीजिए क्या चाहते हैं ये बहुत नारायण उस वस्तु के स्वरूप को आप देखिए क्या अपने से अन्य को चाहते हैं कि अपने आप को चाहते हैं व्यक्ति अपने को जानता है जो खुद मैं ही हूँ तो मैं को मैं क्या चाहूंगा मैं तो जो अप्राप्त है अन्य है उसको चाहता हूँ अच्छा जो अप्राप्त है अन्य है वो जड़ है कि चेतन है आप अपने से अन्य को अगर चेतन मानते हैं तो चेतन और जड़ का विवेक नहीं है चैतन्य आत्मा से अन्य न दूसरे आत्मा के रूप में होता न ईश्वर के रूप में होता न परोक्ष होता न प्रत्यक्ष होता चैतन्य उसी को कहते हैं जो प्रकाशक है और जो अन्य है वो अंतकरण में वृत्ति के रूप में कल्पित होता है और मिटता है और सुसुप्ति में नहीं रहता है अच्छा तो यदि आप अन्य को चाहते हैं तो आप अपने अंतकरण द्वारा कल्पित को चाहते हैं अपने द्वारा प्रकाशित जड़ को चाहते हैं जितनी देर तक आपकी चाह रहेगी उतनी देर के लिए ही चाहते हैं और सच में आप बाहर चाहते हैं कि भीतर चाहते हैं आपको भीतर उसके मिलने की संबित हो ये चाहते हैं कि आपको संबित न होवे और मिले ऐसा चाहते हैं हम होवे और मिले ऐसा तो आप चाहते नहीं है मिले और मिलना मालूम पड़े ऐसा चाहते हैं ना तो मिलना मालूम न पड़े और मिले तो उसमें कोई मजा है कोई मजा नहीं है तब आप उसको चाहते ही नहीं है का असल में हमको मिलना मालूम पड़े यही चाहते हैं और मिलना मालूम पड़े अगर यही चाहते हैं तो बाहर के विषय की तो कोई जरूरत ही नहीं है, है? आप आंखें बंद किए ही उससे मिला लीजिए ना वो तो बिल्कुल कल्पना है अच्छा तो जिसको आप चाहते हैं वो आपकी कल्पना है जिसको आप चाहते हैं वो आपके आश्रित है जिसको आप चाहते हैं वो आपके सामने ही पैदा हुआ है और आपके सामने ही मर जाएगा आप बने रहेंगे प्रकाशक बना रहेगा और अंतकरण के द्वारा गृहित जो अन्य है वो मिट जाएगा वो पिट जाएगा तो आप क्या चाहते हैं बोले हम अपने आप को ही चाहते हैं बोले देखो अपने आप को आप चाहते हैं तो अपने आप को अप्राप्त मानते हैं यदि आप अपने को अप्राप्त मानते हैं तो अपने आप को नहीं जानते हैं तो अपने आप को अज्ञान से चाहते हैं हम <clears throat> वो क्या चाहेंगे से हम आत्मा का ज्ञान चाहते हैं का ज्ञान नहीं विचार चाहते चाहते ज्ञान चाहना माने जिज्ञासा जिज्ञासा से सूचित विचार चाहते हैं आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ माने इस पर आपको श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए कि आप कौन है है ना आप दूसरे देश में नहीं है दूसरे काल में नहीं है दूसरी वस्तु के रूप में नहीं है स्वयं है तो आप अपने को चाह क्या रहे हैं है ना अपने में जो अप्राप्ति का भ्रम है वही मिटाना पड़ेगा आपको दूसरे ढंग से ये बात सुनाता हूँ अगर आत्मा अन्य है अब आप जिसको चाहते हैं जिसके बारे में काम है वो अगर अन्य है, है तो उसको चाहना माने वो हमारी कल्पना में बना रहे उसकी संबित हो गए इतना ही चाहते हैं और क्योंकि उसकी संबित आप निरंतर नहीं रख सकते सुषुप्त नहीं रख सकते स्वप्न में नहीं रह सकते घट पटादी का विचार करने पर नहीं रख सकते भोजन के समय नहीं रख सकते स्वाद में मन जाएगा ही देखते समय नहीं रख सकते सुनते समय नहीं रख सकते हाँ, सुनते समय नहीं रख सकते उसकी संबित तो संबित तो एक ही रहेगी दो चार दस थोड़ी होंगी तो जिस अन्य को आप चाहते हैं उसको चाहना बिल्कुल बेकार है अगर उससे मिलने का आपका ख्याल हो तो आंख बंद करके वो हमको मिल रहा है ये जितनी देर तक आपका मन लगे है ना लगा लीजिए और जब बोर होने लगी तो उसको छोड़ दीजिए है ना बिल्कुल ये अन्य को चाहते हैं तो और यदि अपने आप को चाहते हैं तो सोचिए कि अपना आप को तो मैं खुद ही हूँ मैं चाहता क्या हूँ मैं कहा खो गया हूँ कि अपने आप को चाहता हूँ तो आपको दूसरे ढंग से ये बात सुनाता हूँ बोले भाई जो शरीर के भीतर है वो तो मैं नहीं चाहता जो स्वर्ग में है वो चाहता हूँ या जो नई दिल्ली में है वो चाहता हूँ इसको छोड़ो न्यूयॉर्क में वो चाहता हूँ पेरिस में वो चाहता हूँ इससे क्या मतलब ये जो लंदन में है वो चाहता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहीं हैं वहां नहीं है एक बात मैंने विचार करना पड़ेगा कि ये जो यहाँ और वहाँ का भेद है ये आपके मन में है आप में है कि आप इस भेद में विचरण करते हैं आप इस भेद में विचरण करते हैं कभी यहाँ की कल्पना में कभी वहाँ की कल्पना में और आप देखो जैसे यहाँ रह के आप वहाँ की कल्पना कर रहे हो वैसे वहाँ जाओगे तो यहाँ की कल्पना करने लग जाओगे या और कहीं की कल्पना करने लग जाओगे क्योंकि कल्पना में मर्यादा नहीं है क्योंकि कल्पना में मर्यादा नहीं है इसलिए जब तुम यहाँ छोड़ के वहाँ गए तो वहाँ छोड़ के और कहीं जाओगे सब भटकते ही जिंदगी बीतेगी लेकिन ये बात तो मैं बहुत मोटी दृष्टि से बोल रहा हूँ आत्मा यहाँ भी है वहाँ भी है अच्छा ऐसी भावना कोई करे है कि मैं ही इंग्लैंड में हूँ पेरिस में हूँ न्यूयॉर्क में हूँ और मैं ही क्या नाम है नई दिल्ली में हूँ और मैं ही स्वर्ग में हूँ ये कल्पना भी बिल्कुल झूठी है क्योंकि यदि मैं देश के पेट में होता है ना देश देश मेरे पेट में कि मैं देश के पेट में तो देखो न देश के पेट में मैं न मेरे पेट में देश ये परिच्छिन्न मैं और देश दोनों फुरना के पेट में और फुरना जो है ये मुझ स्वयं प्रकाश स्वरूप से पृथक नहीं है इसका अर्थ है कि स्थान विशेष में किसी वस्तु को चाहना अपने को स्थान विशेष में मानना है ये लाउड स्पीकर ये पुस्तक हमसे उत्तर दिशा में है क्यों है इसलिए कि मैं शरीर बन के इसकी दक्षिण दिशा में बैठा हुआ हूँ अच्छा यदि मैं आकाश हूँ तो मुझ में ये किस दिशा में है यदि मैं ब्रह्म हूँ तो ये मुझसे ऊपर है कि नीचे है कि सामने है कि पीछे कि बाएं है कि दाएं है ब्रह्म में तो नहीं होता ये सब तो स्थान विशेष की जो कल्पना है और उसमें संकल्पना है माने सम्यक्त्व की कल्पना है सौंदर्य की कल्पना है सम्यक्त्व की कल्पना है हितकारित्व की कल्पना है ये भी चित्त की ही कल्पना है अच्छा भाई अब नहीं तब हमको सुख मिलना चाहिए मार दिया आपने को तो।, तो तुम तो अब हो है ना तब रहोगे कि नहीं ये कैसे मालूम है तुमको अब और तब ये दोनों जिस मन में हैं उस मन के तुम साक्षी हो जब अपने को मन से मिला देते हो तो अब मैं दुखी हूँ तब सुख मिलेगा या अब मैं सुखी हूँ तब दुख मिलेगा ये कल्पना करते हो और यहाँ सुख है वहाँ दुख है या यहाँ दुख यहाँ दुख है वहाँ सुख है है ना और ये मैं के रूप में मैं शरीर में बैठा रहा हूँ ऐसा या यह के रूप में कोई अपना प्यारा प्राप्त कर लू ये ये दोनों कल्पना है तो असल में काम कहाँ है अपने स्वरूप के अज्ञान से स्वरूप माने ब्रह्मता अपने ब्रह्मत्व के अज्ञान से अपने को मानते हैं देश काल वस्तु से परिच्छिन्न जिसको भ्रांति बोलते हैं आप देखो अज्ञान और भ्रांति का जो भेद है वो ध्यान में आना चाहिए भ्रांति अंतकरण में होने वाली एक वृत्ति है और उसमें मैं मैं मनुष्य हूँ मैं हिंदू हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं सन्यासी हूँ मैं महात्मा हूँ है मैं आ, मैं धर्मात्मा हूँ मैं उपासक हूँ मैं योगी हूँ मैं ज्ञानी हूँ है ना और मैं ब्रह्म हूँ इस वृत्ति इस वृत्ति का अभिमान लेकर के अगर कोई बैठा हुआ है है ना तो ये अंतकरण की वृत्ति ही है है ना मैं ब्रह्म हूँ ये वृत्ति मैं जीव हूँ या परिच्छिन्न हूँ इस भ्रम को मिटाने के लिए अपेक्षित है अपने स्वरूप में इसकी भी जरूरत नहीं है सचमुच अपने स्वरूप को न जानने के कारण ही जैसे मैं जीव हूँ ये भ्रांति बन गई इसी प्रकार इस भ्रांति को मिटाने के लिए ब्रह्म विद्या से उपनिषद से मैं ब्रह्म हूँ ये वृत्ति उत्पन्न करनी पड़ती है ये भी उत्पन्न उत्पाद वृत्ति है मैं ब्रह्म हूँ ये वृत्ति भी पैदा होती है मैं ब्रह्म हूँ ये वृत्ति रहती है क्षण भर मैं ब्रह्म हूँ ये वृत्ति नष्ट हो जाती है, है? तो ये सब की सब वृत्तियाँ जो हैं वो अपने स्वरूप के अज्ञान से ही धारण करनी पड़ती हैं तो स्वरूप का जो अज्ञान है वो वृत्ति नहीं है अपने स्वरूप का जो अज्ञान है वो वृत्ति नहीं है परंतु मैं परिच्छिन्न हूँ मैं जीव हूँ मैं संसारी हूँ मैं पापी पुण्य आत्मा हूँ मैं सुखी दुखी हूँ मैं मनुष्य हूँ ब्राह्मण हूँ ये सब वृत्ति है और इन सब परिच्छिन्न वृत्तियों का ध्वंस करने के लिए मैं ब्रह्म हूँ माने अद्वितीय हूँ अनंत हूँ अविनाशी हूँ परिपूर्ण हूँ इस वृत्ति की जरूरत है और अपने स्वरूप में कोई वृत्ति हो चाहे न हो कोई जरूरत नहीं है तो अपने को ब्रह्म न जानने के कारण ही अपने को परिच्छिन्न मान लिया जाता है और अपने को परिच्छिन्न मान अपने को परिच्छिन्न मान लिया जाता है और अपने को परिच्छिन्न मानते ही देश की गोद में आ गए जो देश का अधिष्ठान था उसने अपने को देश की गोद में माना तो चाहिए हमको स्वर्ग या नई दिल्ली की चीज चाहिए ना अपने को काल जो काल का आश्रय था अधिष्ठान था जिसमें काल की कल्पना थी वो काल के पेट में आ गया इस समय की चीज तो मुझे मिली हुई है और आगे होने वाली चीज तो अभी हमको नहीं मिली हुई है ये कल्पना हो गई बोले जहाँ परिच्छिता जो जिसकी गोद में संपूर्ण जड़ता और अन्यता अभ्यस्त थी कल्पित थी वो अज्ञान के कारण कहाँ आ गया बोले अपने को एक परिच्छिन्न देह द्रव्य देह समझने लगा तो अब स्त्री पुरुष हुआ तो स्त्री अप्राप्त हो गई और स्त्री हुआ तो पुरुष अप्राप्त हो गया और अप्राप्त होने पर है ना अप्राप्त देश की वस्तु अप्राप्त काल की वस्तु और अप्राप्त अन्य वस्तु उसके लिए कामना का कामना का उदय हो गया तो कामना का मूल कहाँ है अपनी परिच्छिता की भ्रांति में और अपनी परिच्छिता की भ्रांति कहाँ है अपने स्वरूप के अज्ञान में बोले अपनी परिच्छिता की भ्रांति से जब प्राप्त और अप्राप्त का भेद हो जाता है ना तो अन्य देश में साधगुण की कल्पना होती है ये स्थान तो अच्छा नहीं है है ना कश्मीर बहुत अच्छा है अच्छा तो तुम चले जाओ ना फिर वहीं बस जाओ बोले नहीं दस दिन के लिए जाएंगे फिर लौट आवेंगे कि अगर कश्मीर ही अच्छा था तो यहाँ क्यों लौट के आते हो बोले रुपया भी तो अच्छा है ना महाराज है ना कश्मीर तो अच्छा है पर रुपया भी तो अच्छा है ना दो तो दो अच्छे हैं तो एक बार वो खींचेगा और एक बार ये खींचेगा इसका मतलब है एक कश्मीरक ग्रंथि तुम्हारे अंतकरण में है और एक द्रव्य ग्रंथि है ना नोटक ग्रंथि एक है एक नोट की गांठ है और एक कश्मीर की गांठ है तो कश्मीर की गांठ उधर सौंदर्य की गांठ वहाँ खींचेगी और पैसे की गांठ यहाँ खींचेगी यही जो अपनी वृत्ति का भाषमान विषयों के साथ संबंध है ना इसी को बोलते हैं ग्रंथि तो ये लोभक ग्रंथि धन के साथ जब मन की गांठ पड़ जाती है तब उसका नाम लोभक ग्रंथि होता है वो लोभक ग्रंथि तो विष्णु भगवान जरा उसको पूरी करने में मदद करते हैं है ना जब दुश्मन से बदला लेने की दुश्मन के साथ अपनी मनोवृत्ति का संबंध होता है बदला लेने की वृत्ति आती है तब वो क्रोधक ग्रंथि हो जाती है क्रोधक ग्रंथि रुद्र उसको पूरी करता है रुद्र ग्रंथि उसको बोलते हैं और जब स्त्री और बच्चा इनकी कामना जब होती है ना इसको काम ग्रंथि बोलते हैं तब ब्रह्मा जी इसको पूरा करते हैं <laughs> और और इनके सबके मूल में एक ग्रंथि है उसका नाम है चिज्जड़क ग्रंथि है तो स्वयं प्रकाश सबको प्रकाशने वाले चैतन्य लेकिन ग्रहण करने वाला जो अंतकरण है ना जो विषयों को ग्रहण करने का औजार है ये शब्द है ये स्पर्श है ये रूप है ये रस है ये गंध है एक ही सत्ता को पांच प्रकार से करके उसको ग्रहण करने वाला ये जो अंतकरण है ना इंद्रियों इंद्रिय वृत्तियां हैं अंतकरण है ये तो ग्रहण करने वाला है आत्मा तो केवल प्रकाश फेंकता है प्रकाश स्वरूप है ये तो स्वयंभू है स्वयं प्रकाश है ये तो स्वयं आनंद है स्वयं प्रेम है स्वयं प्रतिभात है स्वयं सत्ता है और ये तो प्रकाश को प्रकाश का विकिरण ही इससे हो रहा है स्वयं प्रकाश है जवाब दिशा तो प्रकाश को ग्रहण दिशा जो है वो तो दृश्य को ग्रहण करने वाला है ना अंतकरण तो चित जगत ग्रंथि का क्या अर्थ हुआ कि अंतकरण चाहे जागृत अवस्था में हो चाहे स्वप्न अवस्था में हो चाहे सुषुप्ति अवस्था में हो वो तो विषयों के भावाभाव को ग्रहण करता है बाहर क्या है स्त्री है कि पुरुष है इसको छठ अंतकरण बता देगा लेकिन स्वयं प्रकाश आत्मा जो है ये स्त्री पुरुष का भेद नहीं करता वो तो अंतकरण पर केवल रोशनी ही डालता है एक अंतकरण पर नहीं सृष्टि के सारे अंतकरण पर तो बोले कि भाई जब तो फिर सबके अंतकरण की बात उसको क्यों नहीं मालूम पड़ती तो अरे बाबा अंतकरण की बात क्यों पूछते हो आंख से जो दिखता है वो कान से क्यों नहीं मालूम पड़ता कान से जो दिखता है वो नाक से क्यों नहीं मालूम पड़ता नाक से जो दिखता है वो जीव से क्यों नहीं मालूम पड़ता इसका मतलब है कि विषयों का जो ग्रहण है वो तो मशीन के भेद से होता है सब को प्रकाशने वाला स्वयं जो है वो सब मशीनों को है ना अब ये बल्ब को पंखे की बात क्यों नहीं मालूम पड़ती और पंखे को बल्ब की बात क्यों नहीं मालूम पड़ती बिजली एक है दोनों में बिजली दोनों को संचालित करती है परंतु बल्ब प्रकाश को ग्रहण कर लेता है बाहर की रोशनी को पकड़ लेता है और ये जो है क्या नाम पंखा जो है वो हवा में क्षोभ कर देता है परंतु बिजली न क्षोभ करती है न प्रकाशती है तो अद्भुत लीला हो गई ना लीला हो गई तो इस चित जनक ग्रंथि का अर्थ है कि दृश्य के रूप से भासमान जो अंतकरण है उस पर बैठ के ही हम कोई गांठ वाठ नहीं पड़ी है हो है ना के संबंध के बिना मानो हम कुछ हो ही नहीं ऐसी जो भ्रांति हो गई है हम दिल वाले हों तो हैं दिमाग वाले हों तो हैं तो हैं हमको मालूम पड़े तो हैं हम सोवे तो हैं जागे तो हैं है ना अंतकरण का सोना हमारा सोना अंतकरण का जागना हमारा जागना अंतकरण का सोचना हमारा सोचना विचार हुआ तो बोले हम बड़े विचारवा दुख हुआ तो बोले हम बड़े दुखी है ना शांति हुई तो बोले हम बड़े समाधि ये सब अंतकरण के धर्म को अपने ऊपर आरोपित कर देना और अपने मैं को अंतकरण के धर्मों पर विकारों पर स्वभावों पर गुणों पर अवस्थाओं पर आरूढ़ कर देना इसका नाम क्या है चिज्जनक ग्रंथि इसको बोलते हैं चिज्जनक ग्रंथि लेकिन ये चिज्जनक ग्रंथि ही क्यों है का इसका कारण है अपने आप को न जानना ग्रंथि में विपर्य है विपरीत प्रत्यय है भ्रांति है अध्यास है और इसका कारण केवल अपने स्वरूप को न जानना है तो ब्रह्म विद्या जो है वेदांत का नाम ब्रह्म विद्या है ये बात ध्यान में रखना ब्रह्म विद्या माने देश का अधिष्ठान और देश का प्रकाशक और देश की कल्पना से न कटने वाला माने परिपूर्ण संपूर्ण काल का अधिष्ठान और संपूर्ण काल का प्रकाशक और संपूर्ण काल की कल्पना जो वृत्ति है ना वो जिसमें कल्पित माने अविनाशी जिसमें उम्र की कल्पना मत करो छोटे बड़े की फैलाव और संकोच की कल्पना मत करो है ना उम्र की लंबाई और सौ बरस पचास बरस की कल्पना मत करो और यह हुआ मैं की कल्पना मत करो ऐसा जो अपना आपा है उसको विचार करके उसको जानो यदि अज्ञान को लेकर के उसमें समाधित हो जाओगे तो फिर जब समाधि टूटेगी तो अज्ञान भी निकलेगा उसके साथ साथ हाँ, हाँ घोड़ा घोड़ा लेने के लिए राजा के सामने समाधि लगाई जब बरसों बाद समाधि टूटी बोले वही घोड़ा चाहिए हाँ। समाधि विक्षेप को दूर करती है वासना को नहीं सुषुप्ति जो है सुषुप्ति विक्षेप को दूर करती है वासना को थोड़ी देर के लिए शांत कर देती है परंतु अज्ञान को सुसुप्ति नहीं मिटाती है जैसा अज्ञान सुसुप्ति के पूर्व होता है वैसे ही सुसुप्ति के बाद भी होता है तो ये वेदांत शास्त्र जो है ये आत्मा के ब्रह्मत्व का प्रतिपादन करके परिच्छिता को बाधित कर देता है न देश परिच्छिन्न है न काल परिच्छिन्न है न वस्तु परिच्छिन्न है तो काम किसका जिसको तुम चाह रहे हो वो यह है कि मैं है है और यह है तब तो वो तुम्हारी कल्पना है तुम्हारा आश्रित है तुम्हारा गुलाम है तुम्हारी नजर से देखने वाला है वो तो कुछ है नहीं और यदि मैं है तो क्या तुम अपने आप को ही चाह रहे हो तुम्हारा आप कहाँ खो गया है जरा ढूंढ के निकालो तो यहाँ का चाहते हो कि वहाँ का चाहते हो अब का चाहते हो कि सब का चाहते हो ये अब सब यहाँ वहाँ ये सारी तो सारी है ना कल्पना है ये सब के सब तुम्हारे गुलाम हैं यहाँ और वहाँ दोनों यह और वह दोनों अब और सब दोनों तुम्हारे आश्रित हैं परतंत्र हैं तुम्हारी रोशनी में दिखने वाले हैं है? तुम्हारी रोशनी में दिखने वाले हैं तुम्हारे द्वारा बनाए हुए हैं तुम में बने हुए हैं तुम में बने हुए हैं और तुम्हारे अस्तित्व में ही प्रतीत होते हैं हाँ, इनको चाहना क्या इनको क्या चाहना सर्वे प्रमुच्यंते कामा ये श्रपा अब जरा लौकिक दृष्टि से भी इसका विचार करते हैं बोला साधक लोग चाहते हैं कि काम मिट जाए ये साधक की दृष्टि है कि कामना मिटे और संसारी की दृष्टि है कि कामना पूरी होए तो ये दोनों दृष्टि अधूरी है औसत आदमी की जो दृष्टि है औसत को इधर तो बोलते होंगे ना कुछ न कुछ हमारे घर औसत आदमी है? तो माने एक जो न अति मानुष है और न न अधम मानुष है जो बिल्कुल गिरा हुआ भी नहीं है और बिल्कुल ऊंचा उठा हुआ भी नहीं है जो मध्यम कक्षा का मनुष्य है मध्यम मार्ग में चलने वाला उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि सारी कामनाएं उसकी मिट जाए और ये भी जरूरी नहीं है कि सारी कामनाएं पूरी हो जाए ये तो बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि जो मन में आया सो ही पूरा हो और वो भी बच्चे ही होते हैं परमार्थ के मार्ग में जो चाहते हैं कि सब कामनाएं मिट जाएं, वो भी बच्चे ही होते हैं वो हाँ। तो एक एक मध्यम पुरुष का स्थिति क्या है बोले उसको न सब कामनाएं मिटानी चाहिए न सब कामनाएं पूरी करनी चाहिए धर्मा विरुद्धो भूतेशु कामोस्मी भरतर्षभ राम कहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में काम हूँ जाओ जीवन त्रयो बंध्या जब तक जीवन रहे तब तक तीन की वंदना करनी चाहिए चाहे कोई वेदांती हो जाए चाहे ब्रह्म हो जाए चाहे कुछ हो जाए है ना तीन की वंदना करने जावत जीवन त्रयो वंद्या वेदांत गुरु ईश्वर प्रमाण में सर्वोपरि वेदांत है है ना और मालिक में सबसे बड़ा ईश्वर है और शिक्षक में सबसे बड़ा सबसे बड़ा गुरु है तो देखो शिक्षा शिक्षा का आदर करना चाहिए वेदांत विद्या का और शिक्षक का आदर करना चाहिए और जो संपूर्ण जगत का नियंता है हाँ, उसका आदर करना चाहिए क्योंकि जीवन है जिस राज्य में रहे उसके संविधान को माने तो बोले हम किस राज्य में रहते हैं ईश्वर के राज्य में रहते हैं तो ईश्वरीय संविधान को मानना चाहिए तो अब ईश्वर हमारे जीवन में काम के रूप में आया हाँ। काम के रूप में कैसे आया कि धर्मा विरुद्धो भूतेशु कामोत्मी भरत अर्षभ सब कामनाएं पूरी हों ये नहीं चाहना जो मर्यादा के अनुरूप हैं वे कामनाएं पूरी हों और सब कामनाएं नहीं मिटाना जो जीवन के लिए अपेक्षित हैं उनको रहने देना तो ये हुई मनुष्य की बात बोले सब कामनाएं मिट जाए तो कामनाएं कुछ तो ऐसी हैं जिनको हम जबरदस्ती अपने जीवन में बुलाते हैं कैसे बुलाते हैं संकल्प मूलक हो गई काम की जड़ क्या है संकल्प अब ये प्रश्न हुआ कि संकल्प तो सबके मन में होता है भाई तो हाँ संकल्प तो होता है पर आप देखो संस्कृत भाषा में संकल्प शब्द का जो रूप है ना उस पर ध्यान दो कल्पना मात्र का नाम संकल्प नहीं है सम्यक्व की कल्पना का नाम संकल्प है, है? हाँ? हमारे एक आचार्य थे गद्दी पर बैठते थे उसने कहा कि तुम ब्रह्म ज्ञानी हो तुम विरक्त हो त्यागी हो तुम गद्दी पर क्यों बैठते हो बोले कि हम तो रोज शौचालय में भी जाते हैं है ना माने शौचालय में जाने में देखो कल्पना तो है कि शौचालय है स्नानघर है है ना लेकिन उसमें सम्यक तो कल्पना नहीं है ये बहुत बढ़िया जगह है यहाँ विश्राम करें हैं कि यहाँ नींद लें कि यहाँ भोजन करें सम्यक तो कल्पना नहीं है वो तो जाना पड़ा जाना पड़ता है इसलिए जाते हैं तो बोले कि गद्दी पर बैठना पड़ता है इसलिए पढ़ते हैं बैठते हैं इसमें सम्यक तो कल्पना नहीं है है ना ये सोना ये चांदी है ना ये गद्दी कोई बहुत बढ़िया चीज है ऐसी कल्पना हमारे चित्त में नहीं है ना एक अद्वितीय ब्रह्म के सिवाय है ना शौचालय भी कल्पित है और ये गद्दी भी ये सिंहासन भी ये सिंहासन भी कल्पित है तो जहाँ समत्व का ज्ञान है वहाँ कल्पना राग द्वेष की जनक नहीं होते जहाँ साम्य है ना जहाँ समत्व का ज्ञान है ये दुष्टु और सुष्ठु का ज्ञान नहीं है ये दुष्ट है और ये सुष्ठु है ये ज्ञान नहीं है एक है एक है अद्वितीय है तो जहाँ समता में कल्पना है वो कल्पना काम की जननी नहीं है तो वैसे अपने शास्त्रों में इनकी बहुत शंकराचार्य भगवान ने उद्धृत किया है महाभारत का एक वचन महाभारत में एक मंकी गीता है उसका नाम मंकी गीता है असल में मंकी गीता माने काम गीता है मन माने काम गीता जैसे भगवत गीता होती है ना वैसे उसका नाम काम गीता है वो ये शांति पर्व के मोक्ष धर्म में तीस पैंतीस श्लोकों की गीता है मंक गीता उसका नाम है तो उसमें जिज्ञासु ने ललकारा मानो उनतीस तीस श्लोकों में काम का ही वर्णन है यदि आपको देखना हो कि कामक ग्रंथि का क्या स्वरूप है तो कभी कभी कोई प्राचीन जो प्राचीन विचारधारा के जो ग्रंथ है ना उनका भी अवलोकन करना चाहिए है कि मनोविज्ञान के संबंध में सारा ज्ञान फ्राइड का ही है वो बात नहीं है काम जानामी ते मूलम अरे वो काम मैं तेरी जड़ जानता हूँ ललकारता है महात्मा काम जाना मी ते मूलम संकल्पात किले जायते जब हम ये ख्याल करते हैं कि ये चीज हमको बहुत सुख देगी और ये हमारे लिए बड़ी हितकारी होगी तो जब पहले हमारे मन में बस पहले तो मैं फिर मेरे लिए फिर मेरे लिए ये वस्तु है ना और ये वस्तु हमारे लिए सुखप्रद होगी और आगे चल करके हितकारी होगी तो सुखप्रद और हितकारी के प्रति तो की कल्पना हो जाती है और जब तो की कल्पना होती है ना ये हमारे सुख देने की चीज है सुख देगी हमको हित करेगी हमारी तो ध्याय तो विषयान पुंस उसका ध्यान होता है तो संगत संगत देशुप जाए थे ध्याय तो विषयांकुंस संगत देशुप जाए थे संगात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते अच्छा जी ये भी तो महाभारत ही है क्योंकि गीता में होना और महाभारत में होना एक ही बात है तो जिस विषय के सम्यक्व की कल्पना होती है उसका अनुकूल बुद्धि से उपादेय बुद्धि से कि ये चीज हमको मिले ध्यान होता है और ध्यान करने से उसका संग होता है और संग होने से जब उसकी उपलब्धि होती है तब उसके भोग की इच्छा होती है तो काम पर विजय प्राप्त करना हो तो कैसे करना चाहिए ये कामना है मध्यवर्ती कल्पना इसके पूर्व और पश्चात की जो वृत्ति है ना उस पर चोट करना चाहिए वो चोट क्या है असंकल्पात जयेत कामम क्रोधम काम विवर्जनात् अर्थानर्थे क्षया लोभम भयम तत्वावमर्शनात् दूर करना बोले सम्यक्त तो की कल्पना जब होने लगे ना तभी विचार करना कि ये जो सम्यक की कल्पना है कि इससे हमको सुख मिलेगा और इससे हमारा हित होगा ये कोई ठीक है ये हमारी कल्पना ठीक हो रही है क्या ये विचार करना उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है वो हाथ पांव को बांध के काम नहीं रोका जाता है ना लोहे की लंगोटी पहन के काम को तो नहीं रोका जाता टिकड़िया बाबा होते हैं ना गांव में हो कोई कोई टिकड़िया बाबा होते हैं आप लोगों ने सुना होगा कभी नहीं हमने देखा है हमारे गांव के पास एक टिकड़ी बाबा थे हाँ, उन्हें धातु की लंगोटी बनवाई थी पीतल की थी मैं बहुत करके समझता हूँ कि उनकी जो लंगोटी थी वो पीतल की थी और आ, ये जो बांधते थे ना कमर में उसको बांध के ताला लगा देते थे रहते थे तो इस तरह से काम पर विजय नहीं होता है एक असंकल्पात जहाँ सम्यक की कल्पना होने लगे वहाँ विचार से अपनी कल्पना में जो त्रुटि है अगर उस वस्तु को तुम सम्यक समझोगे तो तुम्हें पराधीन होना पड़ेगा तुम्हें भिखारी बनना पड़ेगा तुम्हें प्यासा होना पड़ेगा तुम्हें पराधीन होना पड़ेगा फिर भी वो पूरी तरह से वस्तु नहीं मिलेगी बुद्धि को ठीक करना है मन पर चोट नहीं किया जाता बुद्धि को ठीक किया जाता है है ना एक और है क्रिया और एक और है बुद्धि और दोनों के बीच में है काम क्रिया की पवित्रता कर्म में पवित्रता का भाव और बुद्धि का ठीक दिशा में चलना काम को रोकता है काम जाना में ते मूलम संकल्पात किल जाए थे नवाम संकल्प ईश्यामी तेन में न हम कभी दृश्य वस्तु में सम्यक् की कल्पना करेंगे ही नहीं पर श्री उड़िया बाबा जी महाराज से लोगों ने कहा कि अमुक व्यक्ति को बुलाया जा रहा बहुत अच्छा है तो बोले कि मैं तो ईश्वर को भी नहीं बुला दृश्य में सम्यक्त की कल्पना ये शिक्षा पात्र लेकर के पीछे पीछे घूमना कि तुम हमको ये दे जाओ तुम हमको ये दे जाओ तुम हमको ये दे जाओ कि तुम अपना रूप दे जाओ तुम अपना शब्द दे जाओ तुम अपना रस दे जाओ तुम गंध दे जाओ ये हमेशा हाथ में भिक्षा पात्र रख करके संसार में घूमना है ना ये क्या निरतिशय जो महान है उसके लिए शोभा की बात है तो असंकल्पा जय काम सम्यक्त तो की कल्पना छूट जाने से काम पर विजय होती है क्रोधम काम विवर्जना जो अपने मन की चाहता है ज्यादा उसी को क्रोध आता है असल में क्रोधी कौन होता है जो अपने मन को तो मन समझता है और दूसरे के मन को चिड़िया समझता है अरे जैसे हमारे मन है वैसे तुम्हारे भी मन है हमारे ही मन की हो रहे तुम्हारे मन की कोई कीमत नहीं ये तो बड़ी अधूरी दृष्टि है तो क्रोध की निवृत्ति कैसे होती है का अपनी कामना शांत होने से लोभ कैसे मिटता है का विचार करो कि क्या अर्थ है क्या अनर्थ है अपने मन का पतन ही असल में पतन है जब मन मर्यादा रहित हो गया मन गिर गया तो सब कुछ गिर गया तो और अनर्थ का विचार करने से कि एक परमार्थ वस्तु ही सच्चा अर्थ है लोभ की वृत्ति जाती है और भयम वर्षनाथ डर लगे ना कहीं तो ये विचार करो कि हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है आत्मा है है ना एक वर्षनाथ एक हुआ और कहीं भूत दिखे तो लौट मत यहाँ बस इतनी बात है लौटो मत जाके उसको गोद में ही भरने की कोशिश करो और खुली आग पे तो वहाँ भूत नहीं मिलेगा पेड़ का ठूठा ही मिलेगा नहीं मिलेगा वो भूत नहीं मिलेगा बिल्कुल नहीं मिलेगा असलियत की खोज करने से जो हम डरते हैं ना कि हमारा ये चला जाएगा ये चला जाएगा ये चला जाएगा असलियत की खोज करने से भय मिटता है वो तो इस तरह से एक एक दोष के लिए ये तो बड़ा भारी ये तो नुस्खा ही है आ, कोई साधारण नहीं है आ, ये तो लंबा चौड़ा असंकल्पात जे कामम क्रोधम काम विवर्जनात् अर्थान अर्थे क्षया लोभम भयम तत्वावर्तना किया शोक मोह दम्भम महद उपासया मन में शोक मोह आवे दर्शन शास्त्र का विचार करो कौन किसका है कौन किसका है विचार करो शोक मोह हल्का हो जाएगा और बनावट दम की जो भावना है ना दम भी आदमी जो है जो हर बात में अपने बड़प्पन को कायम रखना चाहता है अपने उत्कर्ष का स्थापन के तरह कि मैं सबसे बड़ा है ना उसको दम्भ कहते हैं तो वो कैसे दम्भ कैसे मिटेगा अपने से बड़े के पास रहे अपने से बड़े के पास जो रहेगा वो दम्भ नहीं करेगा ए तत्सर्वम गुरु भक्तिया पुरुषो यंजसा कोई भी दोष हो गए अपने जीवन में यदि अपने गुरुदेव के प्रति सच्ची भक्ति है, है तो बड़ी सुगमता से उसके प्रति विजय हो जाता है तो ये जो काम वाम है ये तो कुछ नहीं है ये तत्व दृष्टि से तो है ही नहीं है ना और जिज्ञासु के जीवन में जिज्ञासु के जीवन में हल्के फुल्के केवल जीवन निर्वाह के लिए रहते हैं और संसारी के जीवन में ये उसको काबू में करके उसको नचाते हुए रहते हैं नचाने वाले के रूप में तो जब तत्व ज्ञान की ओर हम अग्रसर होते हैं एक ऐसी चीज को चाहने लगते हैं जिसमें इन सब बातों की कोई कीमत ही नहीं है तो ये अपने ही हो छूट छाट के गिर पड़ते हैं प्रमुख चंद्र माने अपने आप छूट करके गिर पड़ते हैं देखो बच्चों भाई पूछते हैं